और जब इनको अच्छी तरह बांधकर उसकी एक तंग जगह में फेंका जाएगा तो वहां ये मौत को आवाज देकर पुकारेंगे